और मदियन के लोग भी और मूसा को भी छुटलाया गया था चुनाचे इन काफिरों को मैंने कुछ ठील दी फिर उन्हें पकड़ में ले लिया अब देख लो कि मेरी पकड़ कैसी थी